और वो तुम्हारे बोझ उठाकर ऐसे शहरों तक ले जाते हैं जहां तुम सख्त जिस्मानी मुशक्कत के बगैर पहुंच नहीं सकते यकीनन आपका रब बहुत शफकत फरमाने वाला निहायत रहम फरमाने वाला है